नीचे से लोगों ने कहा कौन पूछते हैं भली भांति पता होगा आपको संगीत की मृत्यु हो गई औरंगजेब हंसा और उसने कहा बहुत अच्छा हुआ कि संगीत की मृत्यु हो गई अब जरा मरे हुए संगीत को गहराई से गाड़ देना ताकि वो वापस न निकल आए ये घटना आपने सुनी होगी आज ऐसा लगता है कि फिर दिल्ली में अर्थी निकालनी चाहिए और जब आज के औरंगजेब पूछे बाहर झांक कर तो कहना चाहिए विचार की मृत्यु हो गई पक्का है कि आज के औरंगजेब भी यही कहेंगे कि थोड़ा ठीक से गाड़ देना कि विचार कहीं निकलना है विचार की हत्या के प्रयास बहुत पुराने हैं और इस देश में इस देश में तो विचार को कभी ठीक से जन्म ही नहीं मिल पाया और जिस देश में विचार का जन्म न हो उस देश में क्रांति की कोई भी उम्मीद नहीं क्योंकि क्रांति का मौलिक सूत्र है विचार क्रांति का आधार सूत्र है विचार विचार के खिलाफ क्यों है औरंगजेब चाहे किसी जमाने के और ऐसा ही नहीं है कि इस देश के औरंगजेब ही सारी दुनिया के औरंगजेब विचार के क्यों खिलाफ फिर चाहे वे चीन के औरंगजेब हों चाहे रूस के और चाहे भारत के चाहे अमेरिका के औरंगजेब हमेशा ही विचार के खिलाफ क्यों है सत्ताधिकारी विचार का शत्रु क्यों है धर्मगुरु नेता शोषक सभी विचार के दुश्मन क्यों है कुछ कारण है विचार में विद्रोह के बीच है विचार में क्रांति की शुरुआत है इसलिए आज तक सदा ये कोशिश की गई है कि मनुष्य बिना विचार के हो विचार खतरनाक है इसलिए मनुष्य में और सब हो विचार ना हो न आदमी सोचे न आदमी समझे न आदमी पूछे आदमी सिर्फ माने जो मानता है वो अच्छा आदमी है जो पूछता है वो आदमी अच्छा नहीं है वो संदिग्ध है ये जो स्थिति हजारों साल से चल रही है दूसरे देशों ने तो इस स्थिति को तोड़ना शुरू कर दिया लेकिन इस देश में वो स्थिति अभी भी नहीं हो पाई देशों ने तो विचार करना शुरू कर दिया इस देश ने विचार करना अभी भी शुरू नहीं किया हम आजाद भी हुए तो भी मन हमारे गुलाम मन हमारे सोचते ही नहीं और जो सोचता नहीं है उसकी स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो सकता है दूसरे मुल्कों ने तोड़ी है हालत और इसलिए दूसरे मुल्कों के समाज में रूपांतरण शुरू हुआ है हजारों वर्ष की बंधी हुई समाज की धारा वहां बदली है उसने मोड़ लिए जरूरी नहीं है कि वे मोड़ शुभ की ही दिशा में हो लेकिन जब अशुभ की दिशा में भी मोड़ लेने की सामर्थ्य आ जाती है तो बहुत दूर नहीं है वो दिन जब शुभ की दिशा में मोड़ लिए जा सके लेकिन जो मोड़ ले ही नहीं सकते जो बदल ही नहीं सकते उनके जीवन में तो शुभ की कोई आशा नहीं हो सकती विचार को रोकने की तरकीबें क्या है अगर हम ये समझ लें तो विचार को जन्म भी मिल सकता है और ये भी समझ लेना जरूरी है कि क्यों आखिर विचार को रोकने की इतनी चेष्टा क्यों चलती है गांधीवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी मार्क्सवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी माओवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी सभी वाद विचार से डरते हैं क्योंकि जहां विचार होगा तीव्र वहां वाद नहीं बच सकता वाद मरे हुए विचार का नाम वाद उस विचार का नाम है जो कभी उपयुक्त था परिस्थितियां बदल गई अब वो अनुपयुक्त हो गया है लेकिन वो मरने से इनकार करता है कहता हम जिंदा रहेंगे सभी विचार किसी परिस्थिति में अर्थपूर्ण होते हैं फिर परिस्थिति बदल जाती है परिस्थिति रोज बदल जाती है परिस्थिति एक क्षण नहीं ठहरती लेकिन वाद वाद ठहर जाते हैं वो बढ़ना बंद कर देते हैं महावीर ने जो बात कही थी वो 2500 साल पहले रुक गई और 2500 साल से महावीर के बात को मानने वाले वहीं ठहरे हुए वो इंच भर वहां से आगे नहीं बढ़े 2500 साल में इतिहास नहीं रुका समय नहीं रुका 2500 साल में जिंदगी नहीं रुकी जिंदगी एक क्षण नहीं रुकती है जिंदगी किसी की फिक्र नहीं करती कि तुम कहां रुके हो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है जो रुके हैं वो मुर्दा हो जाते हैं जिंदगी उनके लिए नहीं रुकती जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती जो मोहम्मद के साथ रुक गए हैं मोहम्मद का वाद बनाकर वो चौदह सौ साल पहले रुक गए जो जीसस के साथ रुक गए हैं वो दो हजार साल पहले रुक गए हमेशा दुनिया में जो लोग सोचते हैं वो कोई उत्तर देते हैं लेकिन वो उत्तर उस परिस्थिति के लिए होता है फिर परिस्थिति बदल जाती है उत्तर छाती पर पत्थर बन के बैठ जाता है वाद का मतलब है उत्तर जो कभी सार्थक थे और कभी के व्यर्थ हो गए वो मनुष्य की गर्दन से लटक जाते हैं जो आदमी भी किसी बात को मानता है वो आदमी अपनी आत्मा को नहीं मानता जो आदमी भी किसी बात से बंधा हुआ आदमी है उसने अपने विचार का गला घोट दिया है जो आदमी भी कहता है मैं वादी हूं हिंदू हूं मुसलमान हूं जैन हूं कम्युनिस्ट हूं गांधीस्ट हूं जो किसी भी तरह के इज्म और वाद और संप्रदाय का नाम लेता है उस आदमी ने सोचना बंद कर दिया है शायद उसने कभी सोचा ही नहीं दूसरों ने सोचा है दूसरी परिस्थितियों में वो उन्हीं उत्तरों को पकड़ कर रुक गया है ध्यान रहे जिंदगी रोज नए सवाल खड़ी करती और हमारे उत्तर सब पुराने होते पुराने उत्तर नए सवालों का जवाब नहीं बनते बल्कि नए सवाल को समझने में भी बाधा डालते एक छोटी सी कहानी कहूंगा वो कहानी जरूर सुनी होगी छोटे छोटे बच्चे भी उसे पढ़ते हैं बूढ़े बाप जरूर चाहते हैं वो पढ़े लेकिन वो कहानी जैसी बताई जाती है अधूरी है और आधी और आधे सत्य झूठ से भी खतरनाक होते हैं आधा सत्य असत्य से भी बदतर होता है क्योंकि असत्य को पहचाना जा सकता है आधे सत्य को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है सुनी होगी जरूर ये कहानी के एक सौदागर था टोपियां बेचता था बाजार से लौटता था कुछ टोपियां बची थी उसकी टोकरी में सो गया था एक वृक्ष के नीचे खुली नींद तो देखा कि बंदर उसकी टोपियां ले बहुत चिंतित हुआ लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि बंदर तो नकलची होते हैं अपनी टोपी उसने निकाल के सड़क पर फेंक दी सभी बंदरों ने टोपियां फेंक दी उसने टोपियां इकट्ठी की अपने घर चला गया इतनी ही कहानी सुनी होगी ये कहानी आती है और आधी कहानी खतरनाक है आधी कहानी तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सौदागर मरा उसका लड़का बड़ा हुआ लड़के ने भी वही काम किया जो उसका बाप करता था सभी नासमझ लड़के वही करते हैं जो उनके बाप करते थे बेटे में थोड़ी समझ हो तो बाप से आगे जाता है बेटे में समझ ना हो तो बात की सीमा को लक्ष्मण रेखा समझ लेता है और वहीं रुक जाता है बुद्धिहीन बेटों के कारण दुनिया रुकती है बुद्धिमान बेटों के कारण दुनिया बढ़ती है लेकिन बाप कभी भी बुद्धिमान बेटों को पसंद नहीं करते बाप हमेशा बुद्धिहीन बेटों को पसंद करते हैं क्योंकि बुद्धिमान बेटा बाप के अहंकार को चोट पहुंचाता है बुद्धिमान बेटा कहता है हम आगे बढ़ेंगे बुद्धिहीन बेटा कहता है पिता तुम्हारी जो सीमा है वही विकास की सीमा है उससे आगे कोई कैसे बढ़ सकता है तुम्हें अंतिम हो तुम्हें परम हो तुम्हें चरम हो पिता के जो बेटा कहलाने के योग भी नहीं दुनिया में बहुत कम बुद्धिमान पिता है जो बुद्धिमान है पिता वो उन बेटों को आदर करेगा जो पिता को पीछे छोड़ देते हैं वो उस बेटे को आदर करेगा जिसके समक्ष पिता भूल जाए वो उस बेटे को सम्मान देगा जिसके कारण दुनिया कहे कि अब अब जहां पिता ने छोड़ा उससे बहुत आगे ले गया उसका बेटा पिता पिछड़ जाए यही सच्चे पिता की कामना हो सकती लेकिन नहीं अहंकार बहुत मजबूत है उस बाप ने भी यही चाहा था कि मेरा बेटा भी टोपी बेचे क्योंकि उसने कहा था मेरे बाप भी टोपी बेचते थे उनके बाप भी टोपी बेचते थे उनके बाप भी टोपी बेचते थे हम सदा से टोपी बेचते हैं हम दूसरा काम कभी नहीं किया हमारे बाप दादू ने नहीं किया तो तुम कैसे करोगे जो बाप ने किया है वही करना नियम वही धर्म वही शास्त्र बेटे ने भी टोपियां बेची वो भी गया उसी झाड़ के नीचे रुका जिसके नीचे बाप रुका क्योंकि दूसरे झाड़ के नीचे रुकना ठीक नहीं था पता नहीं पुरखे नाराज हो पुरखे नाराज हो जाए और कहने लगे कैसे नालायक हो जहां बाप रुका था वहां नहीं रुकते उसी झाड़ के नीचे उसी जगह उसने अपनी टोकरी रखी और सो गया जहां बाप ने रखी थी बंदर उतरे बंदरों के बाप भी मर चुके होंगे उनके बेटे थे जो उनके बाप ने किया था वही उनको भी करना था वो उतरे उन्होंने टोपियां लगाई और झाड़ों पर चढ़ गए बेटे की नींद खुली याद आई कहानी बाप ने बताया बंदर नकलची होते हैं उसे याद नहीं रहा कि बंदर ही नकलची नहीं होते वो खुद भी नकलची था उसने अपनी टोपी निकाल के सड़क पर फेंक दी लेकिन चमत्कार हुआ एक बंदर नीचे उतरा उस टोपी को भी लेके झाड़ में आदमी नहीं बदला था बंदर अब तक बदल चुके थे और बंदरों ने समझ लिया नकल करना खतरनाक है और समझ गए थे सीख गए थे तरकीब कि आदमी टोपी फेंकता है तब टोपी नहीं फेंकनी चाहिए हमारे बाप दादों ने भूल की थी अब हम ये भूल नहीं करें बंदर वादी नहीं थे बेटा वादी था हिंदुस्तान हजारों साल से वादों से परेशान और पीड़ित पुराने वाद ही बहुत महंगे पड़ रहे हैं और अभी गांधी का नया वाद भी खड़ा हो गया गांधी बहुत प्यारे हैं गांधीवाद जरा भी नहीं गांधी बहुत अद्भुत है गांधीवाद जरा भी नहीं महावीर बहुत प्यारे हैं महावीर का वाद जरा भी नहीं जीसस अद्भुत है लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं होनी चाहिए दुनिया आदमी पैदा होते हैं जमीन पर सुगंध से भरे हुए वे तो विदा हो जाते हैं लेकिन उनके आसपास नकलचियों का बंदरों का ग्रोह इकट्ठा हो जाता और वे एक बार एक रेखाबद्ध रूपरेखा जकड़ी हुई पैटर्न एक बंधा हुआ ढांचा खड़ा करते हैं और कहते हैं बस अब ऐसा ही होना चाहिए अब ऐसा ही किया जाना चाहिए अब यही उत्तर है प्रमाणिक अथॉरिटेटिव यही बाकी सब गलत लेकिन जिंदगी किसी बात के लिए नहीं ठहरती जिंदगी रोज नए सवाल खड़े कर देती है जो सवाल गांधी के समय में जिंदगी ने पूछे थे वो हमारे समय में जिंदगी नहीं पूछ रही है जो हमारे सामने पूछेगी जिंदगी सवाल वो आने वाले बच्चों के सामने नहीं पूछेगी इसलिए भूल के अपने बेटों को प्रेम तो देना लेकिन अपने बेटों को अपने सिद्धांत मत देना प्रेम तो ठीक है सिद्धांत खतरनाक है क्योंकि प्रेम तो मुक्त करता है सिद्धांत बांध लेते हैं बाप से कहना चाहता हूं बेटों को प्रेम देना सिद्धांत मत देना बेटों को कहना चाहता हूं बाप को आदर देना लेकिन जो बाप ने किया जैसा बाप था जो बाप था उसको अपने जीवन के लिए लक्ष्मण रेखा मत बना देना बाप बेटे को प्रेम दे ये समझ में आता है बेटे बाप को आदर दे ये समझ में आता है लेकिन बाप बेटों को बांधने का कारण बने और बेटे बाप से बंध जाएं तो समाज में कभी कोई क्रांति कोई विकास नहीं होता समाज अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है ठहर जाता है भारत का समाज रुका हुआ समाज है जैसे कोई डबरा बन गया हो नदी नहीं है भारत का समाज उसमें बहाव नहीं उसमें गति नहीं है वो किसी अज्ञात सागर की खोज में प्रवाह नहीं है फल देखा है नदी में और तालाब में तालाब बंधा हुआ डबरा हो वो कहीं जाता नहीं जहां उसका बाप था वो वही रहता है जहां उसके और बाप दादे रहे वो वही रहता है डबरा एक ही जगह ठहरा हुआ है नदी भागती है आगे की तरफ अनजान रास्तों पर अपरिचित मार्गों पर अनजाने अनपहचाने न मालूम किस सागर की तरफ अज्ञात अनोन नदी उस तरफ भागती इसलिए नदी जिंदा है क्योंकि नदी अपरिचित का आलिंगन करने को तत्पर है जो परिचित के साथ रुकता है वो मर गया जो अपरिचित के साथ आगे बढ़ता है वो जिंदा है अपरिचित अनोन इनसिक्योरिटी जहां है असुरक्षा जहां है जहां हमें पता नहीं कि क्या है रास्ता क्या है मार्ग क्या है नक्शा अनचार्टर्ड जहां कोई हिसाब नहीं कोई रेखा नहीं कोई मार्ग के चिन्ह नहीं कोई रास्ता बंधा हुआ नहीं वहां वहां जो बढ़ते हैं वे जीवित और जो कहते हैं हम बंधी हुई लीक पर चलेंगे हम राजपथ पर चलेंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमेशा चले वे कहीं जाते नहीं वे गोल गोल चक्रों में घूमते हैं तालाब की तरह अपने ही भीतर चक्कर लगा लेते हैं सड़ते हैं गलते हैं नष्ट होते हैं और उनकी जिंदगी में न कोई सुबास होती न ताजगी होती न स्वच्छता होती भारत एक डबरा है डबरा किसने बनाया ये डबरा कैसे बन गया ये वाद के आग्रह ने भारत को डबरा बनाया क्योंकि वाद आते हैं अतीत से और जिंदगी जाती है भविष्य की तरफ ये कभी ख्याल किया सिद्धांत आते हैं पीछे से जीवन जाता है आगे जिंदगी कभी पीछे नहीं लौटती और सिद्धांत सब पीछे से आते हैं वेद पीछे से आता गीता पीछे से आती कुरान पीछे से आता बाइबल पीछे से आती सब पीछे से आते हैं सिद्धांत और जिंदगी जिंदगी पीछे की तरफ कभी नहीं जाती जिंदगी सदा आगे सदा आगे और आगे जिंदगी जाती है आगे की तरफ और हमारे चित्त बंधे होते हैं पीछे की तरफ तो एक कसमकस एक कॉन्फ्लिक्ट समाज की चेतना में एक द्वंद पैदा हो जाता है उस द्वंद के कारण टूट पैदा होती है गति नहीं होती जिस समाज का चित्त आपस में ही खंडित टूटा हुआ होता है उसकी हालत ऐसे जैसे हमने एक बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए हो दोनों तरफ बैल जुते हैं बैल दोनों तरफ बैलगाड़ी को खींचते हैं बैलगाड़ी कहीं जाती नहीं जा भी नहीं सकती जाएगी कैसे लेकिन बैलगाड़ी के अस्थि पंजर टूटने लगते हैं दोनों तरफ बैल खींचते हैं तो क्या होगा कैसे चलेगी बैलगाड़ी वहीं घसटेगी एक ही जगह पर रहेगी वहीं टूटेगी और नष्ट होगी भारत की जिंदगी में ऐसा ही ऐसा ही कंट्रडिक्शन ऐसा ही विरोध द्वंद पैदा हो गया जीवन आगे की तरफ सिद्धांत पीछे की तरफ चित्त पीछे की तरफ ऊर्जा आगे की तरफ सारा देश पीछे की तरफ खिंचा हुआ है हजारों साल से जाओ रूस के बच्चों से पूछो क्या सोचते हो तो वे सोचते हैं चांद तारों पर बस्ती कैसे बसाएं पूछो अमेरिका के बच्चों से तो वे सोचते हैं मंगल को कैसे जीत लें और देखो भारत के बच्चों की तरफ वे रामलीलाएं देख रहे हैं रामलीला बहुत सुंदर है लेकिन कब तक देखते रहेंगे और कितनी बार देखी जा चुकी रामलीला और देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं हर साल एक घूमता हुआ चक्र है कोलू के बैल है हम और हम उसको देखते रहेंगे बहुत प्यारे हैं राम जरूर कभी उनकी याद बड़ी सुंदर लेकिन अभी और राम पैदा होंगे भविष्य में जो अतीत के रामों से भी प्यारे हो सकते अभी बहुत रामलीलाएं होंगी जो इस पृथ्वी पर ही नहीं चांद तारों पर भी खेली जा सकती लेकिन वो रामलीलाएं दूसरी कौमों के बच्चे खेलेंगे वो रामलीलाएं हम नहीं खेलेंगे हमारी रामलीला हो चुकी एक बार हमने खेल ली अब बार बार खेलने से क्या मतलब अब हम उसका नाटक कर लेते हैं और काम चला लेते हैं राम एक दफा हो गए अब बार बार राम जैसे आदमियों की क्या जरूरत अब तो हम अपने हर गांव में राम बना लेते ये जो अतीत उन्मुखी ये जो अतीत की तरफ देखती हुई आंखें हैं ये जो अतीत पर ठहर गया भारत का चित्त है तो कभी भी भारत की जिंदगी में कोई क्रांति नहीं हो सकती क्रांति होती है भविष्य उन्मुख चित्त से आगे की तरफ जाने वाला आगे की तरफ देखने वाली आंखें भविष्य को घूरने वाली आंखें भविष्य की खोज में उत्सुक और आतुर लेकिन जो बार बार पीछे लौट के देखता है पीछे लौट के बार बार देखता है कहना गलत है जो पीछे ही देखता रहता है वो कैसे आगे जा सकता है हम पीछे क्यों देखते हैं लेकिन ये पीछे देखने का पागलपन हमें क्यों सवार है ये हमारी गर्दन को लकवा क्यों लग गया है ये पैरालिसिस क्यों है कि वो आगे की तरफ देखती ही नहीं कुछ कारण है कभी आपने ख्याल न किया हो शायद छोटे बच्चे सदा आगे की तरफ देखते हैं बूढ़े सदा पीछे की तरफ देखते हैं छोटे बच्चों के आगे भविष्य होता है बच्चे का मतलब है जिसके आगे भविष्य बूढ़े का बूढ़े का कोई भविष्य नहीं होता सिर्फ अतीत होता आगे आगे तो सिर्फ मौत होती है उससे डर के वो आगे की तरफ देखता नहीं वो पीछे की तरफ देखता है वो देखता है बचपन जवानी वो गीत जो कभी गाए वो सपने जो कभी देखे वो फूल जो कभी बरसे वो वीणा जो कभी बजी थी वो सब पीछे देखता है आंख बंद करके स्मृति में खोया रहता क्योंकि आगे आंख खोल के देखे तो मौत है बूढ़ा आदमी आगे नहीं देखता और जो आदमी आगे नहीं देखता समझ लेना वो बूढ़ा हो गया और अगर कोई बूढ़ा आदमी आगे देखता रहे तो शरीर तो बूढ़ा होता है आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती और अगर कोई जिद करे कि पीछे नहीं देखेंगे आगे ही देखेंगे तो वह आदमी मरते वक्त तक भी बच्चा होता है सुकरात को जहर दिया जा रहा है अब जिसको जहर दिया जा रहा है उसको तो पीछे लौट के देख लेना चाहिए अब तो मौत दूर भी नहीं है बाहर आवाज आ रही है जहर गोला जा रहा है सुकरात के मित्र रो रहे हैं उनको शायद पीछे की याद आ रही होगी वो दिन जो सुकरात के साथ उन्होंने बिताए थे वो बातें जो उससे सुनी थी वो अमृत जो उससे बात था वो आंखें जो कल तक चांद तारों से भी ज्यादा रोशन थी वह आदमी जिसकी धड़कन में प्रेम था और सब कुछ था जो सुंदर श्रेष्ठ शुभ वो खत्म हो जाए वो सब पीछे खोए होंगे उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और सुकरात सुकरात उठ उठ के बार बार दरवाजे पे जाता है और जहर पीसने वाले से पूछता है कितनी देर और है कितनी देर और है बहुत देर लगा रहे हो मित्र उस जहर पीसने वाले ने कहा पागल हो गए हो तुम मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे पीस रहा हूँ कि थोड़ी देर तुम और जी लो थोड़ी देर और सांस ले लो इतनी जल्दी क्या है मरने की सुकरात कहता है जल्दी जल्दी बहुत है जिंदगी तो जानी हुई है मौत अपरिचित है अपरिचित को जानने की बड़ी आतुरता है क्या है आगे मौत के आगे क्या है उसको देखने के लिए मन बड़ा आतुर है ये आदमी बुरा हो सकता है ये मौत के पार भी आगे देखता है ये मौत के पार भी आगे देखता है ये आदमी बुरा हो सकता है ये मरते क्षण भी निर्दोष बालक एक इनोसेंट चाइल्ड है जिसकी जिंदगी में अभी कोई अतीत नहीं जिसकी जिंदगी में अतीत की कोई लकीर नहीं जिसकी जिंदगी की पट्टी पर लकीर नहीं खिंच गई है अभी खाली खाली साफ आकाश है उसके मन का अभी आगे वो देखने को तैयार है न केवल व्यक्तियों का बल्कि समाजों का भी जो समाज सदा आगे देखने को तत्पर रहता है वो समाज जवान होता है युवा होता है ताजा होता है जो समाज पीछे देखने लगता है वो बूढ़ा हो जाता है भारत एक बूढ़ा देश इसलिए हम पीछे देखते हैं बार बार और जब तक हम ये न समझ लें कि हम बूढ़े हो गए तब तक हम फिर से पुनर्योगन नहीं पा सकते लेकिन हम तो अपने बुढ़ापे का बड़ा गौरव करते हम तो ये कहते हैं हमसे पुराना कोई भी नहीं रोम मिट गया इजिप्त मिट गया बेबीलोन कहाँ है असीरिया कहाँ है हम हम अब भी वो मिट नहीं गए साहब वो बदल गए रोम अब भी है असीरिया अब भी है इजिप्त अब भी है वो बदलते चले गए वो रोज बदलते चले गए वो नए होते चले गए और हम हम पुराने के पुराने बने रहे ये गौरव की बात नहीं है ये इस बात का सबूत है कि हमने बदलने की क्षमता और कीमिया खो दी हमने बदलना बंद कर दिया जो बदलना बंद कर देगा वो बूढ़ा हो जाता है आपको पता है बूढ़े होने का मतलब क्या होता है बूढ़े होने का मतलब होता है जिसमें बदलने की लोच फ्लेक्सिबिलिटी चली गई जो बदल नहीं सकता जो या तो मर सकता है या ऐसा ही रह सकता है लेकिन बदल नहीं सकता बच्चा कितने जोर से बदलता है बच्चा कितने जोर से बदलता है कल जो था आज नहीं है आज जो है कल नहीं होगा सुबह जो था सांझ नहीं है बच्चे को देखो कैसे बदलता है कैसी बदलाहट है उसकी जिंदगी लेकिन बूढ़ा जो कल था वही आज जो आज है वही कल होगा बस अब एक ही बदलाहट आएगी उसकी जिंदगी में उस बदलाहट का नाम मौत मौत बदलाहट नहीं है मौत है बदलाहट का रुक जाना मौत है ऐसी घड़ी कि जिस जिस आदमी ने बदलना बंद कर दिया तो भगवान कहता उठा लो इसे अब इसने बदलना बंद कर दिया अभी जिंदा नहीं है मौत का मतलब होता है वो जो बदलाहट थी वो बंद हो गई वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी लोच थी जिंदगी में वो खो गई समाजों के साथ भी यही सत्य है जब कोई समाज बदलना छोड़ देता है तो बूढ़ा होता चला जाता जब बहुत बूढ़ा हो जाता तो आदमी तो मर जाता है व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन समाज मरते नहीं इसलिए समाज बूढ़े से बूढ़ा होता चला जाता फिर भी जिंदा रहता फिर भी जिंदा रहता समाज मर नहीं सकता समाज तो जिंदा ही रहेगा लेकिन बूढ़े होकर समाज का जिंदा रहना बहुत दुख का कारण हो जाता भारत एक हजार साल गुलाम रहा कोई जवान कौम एक हजार साल गुलाम रह सकती भारत हजारों साल से दरिद्र कोई जवान कौम इतने दिन दरिद्र रह सकती लेकिन नहीं हम जैसे हैं है, हम कोई बदल नहीं सकते हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब कभी ये सोच लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं एक जमाना था भारत सोने की चिड़िया थी झूठी हैं ये बातें भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं थी हाँ कुछ लोगों के लिए थी सो कुछ लोगों के लिए आज भी है कुछ लोगों के लिए सोने की चिड़िया थी कुछ के लिए आज भी है और कुछ लोगों के लिए कोई देश सोने की चिड़िया तभी हो सकता है जब सारे देश का जीवन सारे देश का जीवन जब कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाए और सारे देश के प्राण जब कुछ लोगों के लिए सोने के ढेले बन जाएं और सारे देश की आत्मा जब बिक जाए और कुछ लोगों के पास सोने की तिजोड़ियां हो जाएं तब कुछ लोगों के लिए देश सोने की चिड़िया हो सकती जरूर है बिरला के लिए सोने की चिड़िया है आज भी लेकिन हम कहेंगे बिरला उन्नीस में आजाद हुआ देश तो उसके पास केवल तीस करोड़ की संपत्ति थी फिर अब अब उसके पास साढ़े तीन सौ करोड़ से ऊपर संपत्ति बीस वर्ष में तीन सौ करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने का रिकॉर्ड नहीं है मनुष्य जाति के इतिहास में अमेरिका में भी नहीं जहां सोना बरसा है वहां भी एक परिवार ने 20 वर्षों में तीन सौ सवा तीन सौ करोड़ रुपए कमाए हो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं लेकिन शास्त्रों में लिखा है सत्संग का बहुत लाभ होता है वही सिद्ध होता है गांधी जी का सत्संग किया अब लाभ उठा रहा सत्संग का लाभ तो सदा होता है सत्संग तो कभी खाली नहीं जाता तो बिरला के लिए सोने की चिड़िया आज भी हो सकती है दस पच्चीस परिवारों के लिए हिंदुस्तान में भारत सोने की चिड़िया है लेकिन भारत के लिए सोने की चिड़िया भारत कब था कभी भी नहीं भारत हमेशा से गरीब है काउंट केसरलिंग नाम का एक जर्मन यात्री भारत से वापस लौटा उसने अपनी डायरी प्रकाशित की है उसकी डायरी मैंने पढ़ी तो मैं एक, एक लकीर भिजा के चौंक के रुक गया लिखा है एक वाक्य वो मेरी समझ में एकदम से नहीं पड़ा मैंने सोचा कहीं छापे खाने की भूल भी हो सकती है लेकिन फिर ख्याल आया किताब जर्मनी में छपी है और छापे खाने की भूल तो ये अपने ही देश में होती है तो होती नहीं तो फिर मेरी कोई गलती होनी चाहिए यहाँ तो यह है कि हर किताब छपती है उसके पहले शुद्धि पत्र छाप लेना पड़ता है उसको किताब के ऊपर ही लगा देते हैं और अगर शुद्धि पत्र को गौर से पढ़िए तो उसमें भी अशुद्धियां रहती हैं तो जर्मनी में छपी मैंने सोचा कैसे इसमें भूल रह गई भूल तो हो नहीं सकती फिर नहीं भूल तो होना चाहिए फिर बार बार उसके वाक्य को पढ़ा फिर ख्याल में आया कि वो मजाक कर रहा है उसने एक वाक्य लिखा अपनी किताब में लिखा है India is rich land where poor people live Hindustan एक अमीर देश है जहां गरीब आदमी रहते हैं तो ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहां और अगर आदमी गरीब रहते हैं तो देश को अमीर कहने का मतलब क्या है लेकिन वो ठीक मजाक कर रहा है वो कह रहा है देश तो अमीर लेकिन रहने वाले इतने बूढ़े हैं कि वो गरीब ही रहना उनका भाग्य है वो जवान होते तो देश की अमीरी बरस जाती लेकिन वो बूढ़े वो कुछ भी नहीं कर सकते वो सिर्फ बैठ कर देखते रह सकते हैं कि जो हो रहा है जिंदगी को हम एक तमाशबीन की तरह देख रहे हैं इसलिए हम बूढ़े होते चले गए हैं जिंदगी को जी नहीं रहे जिंदगी के साथ लड़ नहीं रहे जिंदगी के साथ संघर्ष नहीं कर रहे जिंदगी को देख रहे हैं एक दर्शक की भांति की नाटक चल रहा है और दर्शक बैठे हुए देख रहे हैं देखने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता हम पार्टिसिपेंट नहीं है हम जिंदगी के भागीदार नहीं है और इसलिए हम बूढ़े होते चले गए और ये बुढ़ापा हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब अब शायद हाथ पैर भी नहीं हिलते लेकिन हम इसको तोड़ने के लिए भी कुछ न सोच रहे ना विचार कर रहे बल्कि अगर कोई आदमी इसको सोचने के लिए कुछ कहे तो हम नाराज होते हम बहुत क्रोध से भर जाते कि नहीं ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए हमारे महात्माओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए हमारे महापुरुषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए हमारे भगवान जो कह गए बिल्कुल ठीक है हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो सब ठीक है हमें पता नहीं कि अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम जवान नहीं हो सकते और हम जवान नहीं हो सकते तो हम नहीं बदल सकते कैसी क्रांति क्रांति कौन करेगा क्रांति कैसे होगी लेकिन हम विचार करने से डर गए अगर अगर गांधी जी पे कुछ कहो कि सोचें उन पर हम तो उनके पीछे जाल खड़ा हुआ वो कहता नहीं हमारा एकमात्र काम है कि हम पूजा करें उनकी मूर्ति बनाएं चौरस्ते पे खड़ी करें फूल चढ़ाएं हमारा ये काम विचार वगैरह करना हमारा काम ही नहीं हम विचार करना ही नहीं चाहते विचार की जरूरत क्या है जो है वो ठीक है जो है वो सच है इसलिए विचार क्या करना है हमारे सिद्धांत सब ठीक है अगर गलत है तो आदमी गलत है सिद्धांत तो हमेशा से ठीक है हमारे आदमी गलत है आदमी को बदलो सिद्धांत को बदलने की क्या जरूरत है हमारे मुल्क की ये धारा है आज तक की ट्रेडिशन है हम कहते हैं सिद्धांत सब ठीक आदमी गलत अगर बदलना है तो आदमी को ठीक ठाक करो सिद्धांतों को ठीक करने की जरूरत नहीं लेकिन पांच हजार साल से हम जिन सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं उनके अनुकूल न तो हम आदमी को ढाल पाए और न हम उन सिद्धांतों को बदलने को राजी हैं तो ये जिच पैदा हो गई है एक ये कैसे टूटेगी मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी मैंने सुना है एक राजमहल के नीचे से एक गर्मी की दोपहर में एक पंखा बेचने वाला निकलता था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बहुत अनूठे पंखे ऐसे पंखे आपने कभी देखे ही नहीं होंगे सम्राट ने सुना एक बार दो बार तीन बार उसके पास बहुत सुंदर पंखे थे श्रेष्ठतम पंखे थे जो भी दुनिया में मिल सकते थे सब थे उसने खिड़की से झांक के देखा कि कैसे अनूठे पंखे जो आदमी चिल्ला रहा है देख के और हैरान हुई साधारण पंखे जो तो दो दो पैसे में मिलते हैं फिर भी वो आदमी चिल्ला रहा है कि ऐसे पंखे आपने देखे भी नहीं होंगे सम्राट ने कहा आदमी को ऊपर बोला लाओ वो पंखे वाला ऊपर आया सम्राट ने कहा क्या खूबी तेरे पंखे उस आदमी ने कहा ये पंखे देखने में साधारण भीतर से असाधारण दुनिया को धोखा देने का ये रास्ता बहुत अच्छा है उस आदमी ने कहा ये ऊपर से साधारण भीतर से बहुत असाधारण शरीर पर मत जाइए आत्मा पे जाइए राजा ने कहा पंखों की भी आत्मा लेकिन अच्छा उसने कहा ठीक है क्या खूबी है इनकी असाधारण आत्मा की उस आदमी ने कहा ये सौ साल चलते हैं सौ साल में टूट नहीं सकते तो राजा ने कहा चमत्कार कर रहे हो ये पंखा ऐसा ढीला पोला दिखता है कि दो दिन नहीं चल सकता उस आदमी ने कहा सौ साल की गारंटी दाम क्या है राजा ने पूछा उसने कहा सौ रुपये राजा ने कहा ठीक खूब लूट रहे हो लेकिन जानते हो फांसी पर लटकवा दूंगा अगर ये बात झूठ निकली और अगर बेईमानी हुई तो उस आदमी ने कहा महाराज रोज यही पंखे बेचता हूँ रुपए पीछे भी ले सकता हूँ सौ साल चलेगा ये लेकिन अगर मैं मर गया तो क्या होगा इसलिए रुपए अभी लेता हूँ इसकी वजह पंखे के कारण नहीं अपने कारण आपका क्या भरोसा मेरा क्या भरोसा पंखा तो सौ साल चलेगा गारंटी सौ साल की और रोज निकलूंगा अगर टूट जाए तो मुझे बुला के आप बात कर सकते हैं सौ रुपए उसे दे दिए गए राजा जानता था घोड़ा खरीद लिया गया लेकिन दूसरे ही दिन उस पंखे की डंडी तो निकल गई असाधारण पंखा था साधारण होता तो दो चार दिन भी चल सकता था राजा ने कहा लेकिन अजीब आदमी है बड़े जोश से और हिम्मत से प्रमाणिकता से कहा है शायद आज आएगा नहीं लेकिन ठीक समय पर पंखे वाले की आवाज सुनाई पड़ी राजा ने उसे बुलाया और कहा वहां से ही पंखा तो टूट गया उस आदमी ने गौर से पंखे को देखा फिर राजा को नीचे से ऊपर तक और गौर से देखा और कहा महाराज मालूम होता आपको पंखा जलना नहीं आता क्या कहते हो पंखा जलना नहीं आता ये और एक नई बात सुनी उस आदमी ने कहा कृपा करके पंखा जल के बताइए क्योंकि मुझे हैरानी में डाल दिया सौ साल जिस पंखे की गारंटी है उसको एक दिन में तोड़ कैसे डाला यही एक आश्चर्य आपने कैसे पंखा किया राजा ने कहा तुम आदमी हो होश में हो कि पागल हो क्या मुझे पंखा करना नहीं आता उस आदमी ने कहा निश्चित नहीं आता आप पंखा झल के बताइए राजा ने पंखा झल के बताया उस आदमी हंसने लगा उसने कहा मैं समझ गया ये झलने की बात नहीं है ये कोई झलने का ढंग नहीं है राजा ने कहा फिर क्या ढंग है उस आदमी ने कहा पंखे को संभाल के पकड़िए और सिर को हिलाइए <laughs> चलेगा आप खत्म हो जाओगे मैं खत्म हो जाऊंगा पंखा खत्म होने वाला नहीं पंखा तो गारंटीड है आप गड़बड़ गए यही हम पूरे मुल्क में हजारों साल से कह रहे हैं हमारे सिद्धांत तो सब ठीक आदमी गड़बड़ आदमी को बदलो सिद्धांत को छूना मत ये बहुत नासमझी हो चुकी नहीं आदमी गलत नहीं आदमी कभी गलत नहीं था आदमी गलत पैदा होता ही नहीं है लेकिन अगर आदमी के ऊपर गलत सिद्धांत थोपे जाए तो आदमी गलत हो जाता आदमी अपने आप में ठीक पैदा होता है आदमी अपने आप में गलत पैदा होता ही नहीं लेकिन अगर गलत ढांचे में आदमी को ढालने की कोशिश की जाए तो आदमी गलत हो जाता है और भारत का आदमी गलत हुआ है उसके गलत होने का